哦。 भगवदगीता सप्तश अध्याय सत्ताईसवें श्लोक तक कुछ विचार हो गया है जिसमें इसमें <clears throat> तीन प्रकार की श्रद्धा की चर्चा करते हुए अंतिम में आकर के भगवान के नाम जो ओम तत्सत ये तीन नाम है इसकी महिमा का दान दिया इन नामों के उच्चारण से क्या होता है श्रद्धापूर्वक जो कर्मादि किया हुआ था तप था दान था कर्म था जो भी किया था ने श्रद्धापूर्वक किया था किंतु स्वभाव बस कुछ त्रुटि हो गई स्वभाव के कारण कुछ त्रुटि हो गई ये नाम के जपने से वो सातगुण्य आ जाता उसमें वैगुण्य दोष समाप्त होकर गुण आ जाएगा भगवान के नाम जपने में इतनी शक्ति है कर्मों में जान बुझ करके उसको छोड़ा हुआ अलग बात है श्रद्धापूर्वक कर रहा था यज्ञ दान तप क्रिया आदि जो भी कर रहा था श्रद्धापूर्वक कर रहा था किंतु स्वभाववश कुछ त्रुटि हो गई होने पर भगवान के नाम के जप करने से उसमें साधु आ जाता है निर्दोष हो जाता है ये कहा गया था ओम तत्त निर्देशो ब्रह्मणस्त्र स्मृत ब्रह्म का तीन नाम स्मरण किया है शास्त्रों में ओम तत् सत्य परमात्मा का नाम तीन नाम ब्राह्मणों तेन वेदाश्च यज्ञाश्च गीता पूरा परमात्मा प्रजापति ने जब इसको बनाया सृष्टि के पूर्व काल में प्रजापति ने तीन नाम का उच्चारण करके ही ब्राह्मण वेद और यज्ञ की रचना की ऐसी महिमा है ओम तत् सत ये नाम उच्चारण करके किया तस्मात दो मित्र उदाहरण यज्ञता भक्त इत्यादि कहा था ओम शब्द का उच्चारण करके यज्ञ क्रिया दान क्रिया तप आदि क्रिया प्रवर्तनते विधानोत्तम सततम ब्रह्मवादिधाम निरंतर प्रवृत्तियां चल रही है कौन ब्रह्मवादी और वेदवादी को यहाँ जो वेद को मान करके चलते हैं उनके दान क्रिया तप क्रिया जो भी कर्म यज्ञ क्रिया है ओम नाम के उच्चार से करते हैं ओम ये बिना कोई उच्चार काम नहीं करेंगे ये ब्रह्मवादी वेदवादी जैसे कहा तदित्यन विसंधाय यज्ञान तप क्रिया प्रवर्तते विधानतम ज्ञान क्रिया सुविधा क्रियंते मोक्ष कांक्ष जैसा था तत्शब्द जो भी करते हैं तत् पर परमात्मा ने ऐसा बोलते परमात्मा के लिए न मामा ये मेरा नहीं है ऐसा मानते हैं उन मोक्ष चाहने वाले कर्मों का अर्पण करते थे परमात्मा में जो भी यज्ञ क्रिया हो तप क्रिया हो दान क्रिया कोई भी कर्म हो रहा हो परमात्मा को अर्पित कर देते हैं ये मोक्ष कामी जो होंगे ही नहीं है स्वर्ग आदि फल चाहिए मोक्ष जाने वाले हैं तदित अनुसंधाय क्रिया दान क्रिया तो विविधा क्रियंत है मोक्ष ही मोक्ष चाहने वालों को ऐसा किया जाता है करो भी अद्यत सकलम ही नारायण समर्पया ये बुद्धि हो जाती उनकी जो भी करता हूं सब नारायण के लिए है मेरे लिए नहीं ऐसा ऐसा करते हैं कहा आगे सद्भावे साधुभावे च सदित्य तत् प्रयुज्य अविद्यमान पदार्थ की विद्यमानता आ गई जैसे पुत्र घर में हो गया सद्भाव हो गया असद्भाव था सद्भाव हो गया अस्तित्व तो आ गया इसमें बोलते हैं सत शब्द प्रयोग है सत हो गया यहाँ अच्छा हो गया ऐसा मानते हैं साधुभाव हो गया दुष्ट प्रकृति में चल रहा था अब मन अच्छी प्रकृति में आ गया साधुभाव में आ गया साधुत्व में आ गया वहां भी सत सब और सब बन गया ये पहले असत जैसा था वो सत हो गया ऐसा कहते हैं प्रशस्त कर्मणी तथा विशेष जो कर्म होते हैं विवाह आदि कर्म जो भी करते हैं प्रशस्त मांगलिक कर्म उसमें भी सत शब्द का प्रयोग होता है सत शब्द पार्थिव चति कहा इतना ही नहीं सत शब्द अन्यत्र भी होता है यज्ञ तपसिधानी का स्थिति सदित कर्म से बताते हम सदित लाभ कहा यज्ञ हो तपस्या हो दान हो ऐसे ऐसे काम होते हैं सब शब्द का प्रयोग करते हैं शिष्टाचार वाले लोग शिष्ट पुरुष ऐसा कहते हैं सत ये सत्कर्म कर रहा है ऐसा कहते हैं सत शब्द का प्रयोग करते हैं यज्ञ हो दान हो तप स्थिति उसकी जो स्थिति होगी तो इत्यादि में सत का प्रयोग करते हैं कहा यह सब स्थिति है <clears throat> यज्ञ तपस्या दान है जब आर्थिक स्थिति उच्चते कर्म चाहिए तो तदर्थी हम तप आदि के लिए कर्म हो तो परमात्मा के लिए कर्म हो रहा हो सक्षय सत्शब्द विधि यथेगा सत्शब्द के द्वारा ही बोलते हैं चाहे परमात्मा के लिए कर्म हो तो इत्यादि में सत्शब्द का प्रयोग करते हैं शिष्ट लोग तो सत्कर्म करने से शिष्ट लोगों के द्वारा प्रशंसित हो जाता है इस, इस जीवन में और आगे परमात्मा में प्राप्त होगा ये कहना है आगे टीका में कहते हैं अश्रद्धान्वित श्यापी कर्मणों नामत्र उच्चारणात अभिगुण्य श्रद्धा प्राधान्य में सार्थ पूर्व का श्रद्धा पूर्वक ये तीनों कर्म कर रहा एक यज्ञ दान तपादि कोई भी करता श्रद्धा पूर्वक करता हो तब कुछ त्रुटि होने पर परमात्मा के तीन नाम जपता है तो उसमें सालगुण ने आ जाएगा कहा था शंका होती है श्रद्धा से क्या लेना परमात्मा का नाम लेने से तो सब सालगुण आ ही जाएगा कुछ भी करे ये प्रश्न हो सकता है अनुता से अभी श्रद्धा से विशेषण युक्त नहीं है जो श्रद्धा युक्त नहीं है उन तप में कर्म में आदि में श्रद्धा नहीं है यज्ञता तप आदि में श्रद्धा नहीं है और से भी श्रद्धा से अनुत नहीं संबंधित नहीं हो, होने पर भी ऐसे व्यक्ति का भी कर्म श्रद्धा से युक्त नहीं है ऐसा कर्म भी कर्म तो किया यज्ञ श्रद्धा नहीं है ऐसे कर्म भी नामत्रय उच्चारणाद तीन नाम का जब उच्चारण करे ओम तत्सत ये नाम का उच्चारण करेगा इस उच्चारण से अवैगुण्डे विगुणता तो रहेगी नहीं उस स्थिति में साधुगुण आ ही जाएगा भगवान को नाम लेने से परमात्मा का नाम है और वेद से निकाला गया नाम है ओम इति ब्रह्म यहां से लिया है हाँ। तत्व से तत्पथ दिया है सदैव सत लिया हुआ है परमात्मा के वेद का वेद में आया हुआ नाम है वैदिक नाम है ओम तत्सत तो अश्रद्धांत से भी कर्मण श्रद्धायुक्त नहीं है जो कर्म ऐसे कर्म को भी नामपत्र उच्चारण तीन नाम का जो उच्चारण करेगा ओम तत्सत इसका उच्चारण से अवैगुण्य विगुणता का अभाव हो जाएगा सादगुण्य आ जाएगा भगवान के नाम में महिमा है तो श्रद्धा प्राधान्य में श्रद्धा की प्रधानता नहीं होगी कर्म में इत्यादि कर्मों में श्रद्धा की प्रधानता नहीं रहेगी भगवान के नाम से साधुगुण आ ही जाएगा श्रद्धा युक्त होने पर भी ये शंका आ गई तो उत्तर देते नहीं श्रद्धा बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो उस कार्य में श्रद्धा रख करके कर रहा था व्यक्ति यज्ञ हो तप हो दान हो जो भी कर रहा था किंतु प्रकृतिवश वापस कुछ त्रुटि हो गई छिद्र हो गया कुछ ऐसी स्थिति में विघ्न पड़ा ऐसी स्थिति में भगवान का नाम लेने से पूर्ण हो जाता है इसके लिए तात्पर्य है यानी कि श्रद्धायु नहीं श्रद्धायु तो नहीं है वैसे किया गया कर्म में सात गुण्य आ जाए भगवान का से ऐसा नहीं लेना ऐसा नहीं सोचना ये बोलना चाहते हैं ये कहा अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम सजत असत्यत्व चे पार्थ न तत्प्रत्यनो इह अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असत्यत्युच्यते पार्थ न तत्प्रत्यनो इह अश्रद्धया बिना श्रद्धा से कि भूतम जो हवन किया हुआ है श्रद्धा नहीं है हवन में कोई आस्तिक बुद्धि नहीं है किंतु करना पड़ रहा है देखा देखी लोगों को दिखाने के लिए अश्रद्धया हुतम अश्रद्धापूर्वक ने जो हवन अश्रद्धापूर्वक हुआ जो हवन हो तत्तम जो दान दिया गया हो अश्रद्धापूर्वक लोकाचार दिखाने के लिए किया हो श्रद्धा नहीं है उसमें तत्तम तपह यश तप तपतम जो तप को तपा हो श्रद्धा बिना दिखावा के लिए कृतम चाहे व्यत कर्म कृतम जो भी कर्म किया हो उसने <clears throat> जो कुछ भी किया हो कर्म हो तो हो दत्त हो तप तप्त हो अथवा कृत हो होतम अग्नि आदि में जो हवन किया हुआ आहुति का हवन किया हुआ है श्रद्धापूर्वक नहीं किया दिखावा के लिए किया है जो दत्तम दान दिया अश्रद्धा पूर्वक तप तम तपस तप जो तप किया कृतम माने कर्म कृतम तत्त कर्म किया जो कुछ भी किया है यत कर्म कृतम जो कर्म किया असत यदि उच्चते पार्थ हे पार्थ हे प्रथापूर्त अर्जुन असत ऐसा कहा जाता है शिष्ट पुरुष को असत बोलते हैं अश्रद्धा पूर्वक किया हो कुछ भी हो चाहे हवन हो दान हो तप हो कर्म हो कोई भी किया हो असत ये उच्चते है जो शिष्ट पुरुष है उनके द्वारा असत कहा जाता है सत नहीं मानते इसको न तत्त प्रत्यनो यह तत्कर्मादि जो कहा तत्कर्मादि भूत दत्त तप कृत जो कर्मादि हैं पूर्वोक्त कर्मादि तत् न यह न पर प्रत्य न मरने के बाद फल मिलेगा उसको अश्रद्धा से किया है श्रद्धा से तो नहीं है तो व्यर्थ हो जाएगा हवन आदि न चाहिए यहां भी नहीं मिलने वाला है यदि श्रद्धापूर्वक करता तो शिष्ट पुरुष सत बोलते थे उसको क्या बोलते थे सत बोलने से उसकी ख्याति बढ़ती थी यहां भी फल मिलता था आनुषंगिक फल होना मिलना था और पारमार्थिक फल तो जो परत्र मिलने वाला फल था ही होता दत्त तप तप तप तक फल मिलना ही था यहां भी फल मिलता वहां भी फल मिलता दोनों तरफ यहां तो श्रेष्ठ पुरुष प्रशंसा करते उसने सत्कर्म किया इसने सत करके मानते थे श्रद्धापूर्वक किया होता तो असरता से किया इसने असरतया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम सहित इत्यादि असत यदि उच्चते विद्वत भी जो विद्वानों के द्वारा इसको क्या कहा जाता असत कहा जाता है श्रद्धा वियुक्त होने पर रहित होने पर न सतत प्रत्युरो यहां का दोनों तरह से फल से वंचित हो जाएगा यहां भी कुछ ख्याति यश मिलनी थी उसको सत्पुरुष प्रशंसा करते या सत्कर्म करता है करके बोलते और पर्वत्र भी फल मिला था हवन आदि का फल मिला ही था किया हुआ हवन आदि का ना वहां फल मिला ना यहां फल मिला दोनों से रहित हो जाता है ना यह न प्रत्यय प्रत्यय मान परलोक में जाकर फल नहीं है और यहां भी फल नहीं है इसलिए पूर्वक करना चाहिए सब काम जो भी करे शास्त्र में माने प्रमाण मानकर शास्त्र को प्रमाण मान करके जो कहता है शास्त्र सही कहता है ऐसा मानना चाहिए शास्त्र से प्रमाणित बातों को प्रमाणित मान करके जो श्रद्धा पूर्वक करता हो उसी को यहां भी फल है वहां भी फल है तो फल नहीं कहा <clears throat> अश्रद्धया उत्तम तत्तम तपस्तप्तम कृतम चाहिए ये अश्रद्धापूर्वक हवन किया हुआ जो होगा जैसे राख में हवन करने से फल नहीं मिलेगा अग्नि में हवन करना होगा इस प्रकार श्रद्धा युक्त तो होकर के हवन करने से हवन का फल नहीं मिलेगा श्रद्धा युक्त तो होना जो भी सत्कर्म करते हैं श्रद्धा युक्त तो होना चाहिए उनमें उस स्थिति में भी त्रुटि हो जाएगा स्वभावश तब ये तीन नाम के उच्चार से दोष से मुक्त हो जाता है यानी कि श्रद्धा ने दिखाओ वाली कर्म कर रहा है क्या परमात्मा नहीं जानते क्या अंतर्यामी है वो भीतर भीतर की बातें नहीं जानते क्या पर अंतर्यामी है वो अंतर्यामी ऋषि बैठे हैं किसको ठगोगे सबको दुनिया को ठग सकते हैं उस परमात्मा को ठग नहीं सकते हम्म, ईश्वर सर्वभूताना निर्देश प्रतिष्ठती ऐसा आएगा आगे यहीं भीतर बैठा हुआ है उसके बुद्धि उसके कर्म के साक्षी बनकर बैठा है जो व्यक्ति ठगना चाह रहा ना उसके बुद्धि क्या काम कर रही है वो कौन सा कर्म कर रहा है ये दोनों के साक्षी बनकर परमात्मा भीतर ही है कभी छिपा नहीं सकते दूसरे को छिपाओगे अपने आप को क्या छिपाओगे सीधी बात है परमात्मा आप में बैठे विराजमान है उनको छिपाना संभव नहीं है ये बात है तो अस्त्रता वो जो हवन किया हुआ दान दिया हुआ तप किया हुआ इत्यादि कर्म किया हुआ जो जो भी कर्म कर किया है असत यदि उच्चते पार्थ है पार्थ हे प्रथा पुत्र अर्जुन असत कहा जाता है विद्वानों के द्वारा जो शिष्ट लोग हैं वो असत बोलते हैं ऐसे कर्म असततापूर्वक किए हुए अपराधी कर्म को न तो तत्प्रेत्य वो जो तत्पर जो कर्मादि जो किया हुआ था हवन आदि जो कुछ था न प्रत्यय न यह न मरने के बाद होगा न यहां फल मिलेगा फल दोनों तरफ से बनती क्योंकि एक महान फल होता है आनुषंगिक आनुषंगिक फल होता है जैसे आम का पेड़ हम लगाते हैं वृक्ष बीज डालते हैं हम किसके लिए लगा फल के लिए क्योंकि तो छाया गंधा भी तो स्वतः मिल ही जाता है मिलता कि नहीं मिलता मिलेगा छाया मिलेगा ही छाया के उद्देश्य से पेड़ नहीं लगाया उद्देश्य हमारे फल के लिए तो एक आनुषंगिक फल होता है मुख्य फल होता है मुख्य फल तो स्वर्ग आदि जो कुछ मिला उसको हवन किया हुआ है उसमें होना है और यह आनुषंगिक फल शिष्ट पूर्व के द्वारा प्रशंसित हो जाता था होना था उसे वंचित हो जाएगा यदि अश्रद्धा पूर्वक किया हो तो ये कहना है कोई भी कर्म करो दो प्रकार के फल होते हैं एक आनुषंगिक एक मुख्य दो प्रकार के फल होते हैं गाय पालते हैं किसके लिए दूध पीने के लिए किंतु गोबर गोमूत्र आदि मुफ्त में मिल जाते हैं उसको आनुषंगिक फल है मुख्य बल दूर है हर वस्तु के जो कुछ कार्य आप कर्म करते हैं दो फल होता है उसका एक आनुषंगिक एक मुख्य तो इस लोक में विद्वानों के द्वारा प्रशंसित होना आनुषंगिक फल है और परलोक में जो कर्म आदि का जो फल प्राप्त करना मुख्य फल है दोनों से वंचित हो जाता हो अच्छा दपूर्वकित करता हो तो कहा ये कहा हुआ है <clears throat> राष्ट्र में कहते हैं तत्र सर्वत्र श्रद्धा प्रदान है जो कुछ भी अभी तक कहा यज्ञ दान तप आदि जो कुछ किया कहा इसमें सर्वत्र श्रद्धा प्रधानतया श्रद्धा की प्रधानता के रूप से मुख्य श्रद्धा चाहिए उन कर्मों में जो जो बताए गए कर्मों में सर्वम संपाद्य थे सबके सब संपन्न होते हैं श्रद्धा पूर्वक करने से हो तो हो दत्त हो तप हो कर्म हो इत्यादि इस बात जिससे ऐसा है तस्मात कारणार्थ अश्रद्धा पूर्वक करने से नहीं होगा ये गाना श्रद्धापूर्वक करने से होता है फल होता है नहीं तो नहीं होगा ये कहना है अश्रद्धया होतम हवनम कृतम होतम का था हवनम कृतम अश्रद्धापूर्वक हवन किया दिखाने के लिए लोगों को दिखाने के लिए किया हाँ। भगवान माने भगवान को तो छिपा नहीं सकता उस आत्मरूप से विराजमान भगवान को छिपा नहीं सकता अन्य जीवों को छिपा रहा है बात अश्रद्धया होतम हवनम कृतम होतम करता हवनम कृतम हवन किया है अश्रद्धापूर्वक दत्तम दान दिया ब्राह्मण ब्राह्मणों को दान दिया श्रद्धापूर्वक को दान दिया अश्रद्धया तपस्तप्तम तप किया श्रद्धापूर्वक तप किया तपस तप्तम मैंने अनुष्ठितम तप का अनुष्ठान किया अश्रद्धा वो भी अश्रद्धापूर्वक किया किस रूप से अश्रद्धापूर्वक तथा अश्रद्धया एवं कृतम अश्रद्धा के द्वारा ही किया क्या यह तुति नमस्कार आदि इसी की तुति कर रहा है नमस्कार कर रहा है दिखावा के लिए श्रद्धा तो है ना इसकी स्तुति करो अथवा नमस्कार करो तत्सर्वम इस सब के सब जो क्रियाएं जो की थी इसने असत्ता पूर्व जो क्रिया होती वह असत इति उच्चते हाँ, असत कहा जाता है क्यों मत प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्वा यथार्थ तो का मेरे प्राप्ति के साधन से बाह्य हो गया श्रद्धापूर्वक करता तो मेरे प्राप्ति के साधन वाला मार्ग होता परमात्मा कह रहे हैं मेरे प्राप्ति का मार्ग बनता श्रद्धापूर्वक किया हो तो होता किंतु अश्रद्धापूर्वक है मत प्राप्ति ममा प्राप्ति मत प्राप्ति मेरी प्राप्ति के जो साधन है हम भाव से कर्म किया होता श्रद्धापूर्वक किया होता तो अंतकरण की शुद्धि के माध्यम से कालांतर में भगवान की प्राप्ति हो जाती मत प्राप्ति साधना मेरे प्राप्ति के जो साधन है यही साधन होते हैं शुरू में माने होता है दत्त है तप है पित्त कर्म है इत्यादि ये साधन मानते हैं शुरू में तो उस मार्ग से बाह्य है ये अश्रद्धा से करने से बाहर बहिर्भूत हो गए इसलिए पार्थ है प्रताप अर्जुन ने कहा न बहुया समझ है तो बहुत परिश्रम किया उस व्यक्ति ने दिखावा के लिए हवन किया दान किया हवन ऐसे हवन होता रहे दूध चाहिए घृत चाहिए अमुक चाहिए कितने साधन जुटाया किया तो है किंतु दिखावा के लिए किया बहु आयासम अभी कहते हैं बहुत परिश्रम तो किया उस व्यक्ति ने किंतु श्रद्धा के अभाव के कारण से वो असत कहा जाता उसको बाकी सब कुछ किया किंतु श्रद्धा नहीं की नहीं रखी उसने न तथ वो जो किया हुआ कर्म आदि है बहु आयासम अभी बहुत परिश्रम वाला है कर्म जिस कर्मों में बहुत परिश्रम है चाहे दान देना हो तप करना हो कर्म करना हो हवन करना हो ये तो सरल नहीं है आयास है परिश्रम होने पर भी उनका कर्मों अभी प्रत्यय फलाय फल के लिए नहीं होता वो मुख्य फल जो मरने के बाद होना है परलोक होना न फलाया है प्रत्यय का अर्थ न फलाया नो अपनी यह अर्थम यहां भी फल नहीं मिलेगा आनुषंगिक फल मैंने विद्वान लोग सत शब्द से बोलते किंतु सत नहीं बोल बोले वो क्यों श्रद्धा रहित होने से यहां यहां भी अर्थम यहां भी नहीं क्यों साधु वे निंद तत्व सज्जन पुरुष की निंदा करते हैं अश्रद्धा से जो किया हुआ होगा कर्मादि का वो व्यक्ति की निंदा करते हैं तो असत कहेंगे उसको सत नहीं कहेंगे एक <clears throat> इसलिए जो भी करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए लगन जो बोलते हैं श्रद्धा बोलते हैं वो होना चाहिए कहा सप्तम सप्तमीभ्याम प्रकृतम गृहते कहते हैं तत्र सर्वत्र दो बार सप्तमी है तत्र और सर्वत्र भाष्य माने सप्तम्यास तरल सूत्र ना सप्तमी अर्थ में तरल प्रत्यय किया जाता है तथ्य लगाने पर तरल है लगा है यहाँ तत्र सर्वत्र दो जगह जो तत्र वह तरल है सर्वत्र में तरल है सप्तमी है दोनों वहां पर ऐसा स्थिति होता है इसकी तो सप्तमी व्याम प्रकृतम गृह जो प्रकृति जो कार्य पूर्व में बताया था ना जो चार श्लोकों के द्वारा जो जो बोला था वो कार्य जो होना चाहिए श्रद्धापूर्वक होना चाहिए पूर्व तस्मात दो हृदय से लेकर के जो कहा था तो ये प्रकृति ऐसी का ग्रहण होता है जो कुछ भी करना चाहिए श्रद्धापूर्वक करना चाहिए यही है सर्वम यज्ञादि सगुण विशेष सर्वम संपद्यते गान सबके सब यज्ञ आदि जो भी किया श्रद्धापूर्वक यदि करता हो तो क्या होगा वहां सगुण गुण के सहित हो जाता है दोषयुक्त नहीं होगा गुणे न सहितम सगुणम गुण के सहित हो जाता है सदगुण्य आ जाता है एक आदि श्रद्धा पूर्वक करने पर नहीं तो वैगुण्य आ जाएगा <clears throat> तस्य असत्वम साधयते अश्रद्धापूर्वक कहता है तो वो असत हो जाता है कहा इसको सिद्धि करते हैं यदि अश्रद्धा पूर्वक तो जो कर्म कहा ओम उच्चारण करके वेदवादियों का जो सारे के सारे प्रवृत्तियां होती है मोक्षकामी होकर जो कुछ भी क्रिया आदि करते हैं तत्शब्द का प्रयोग करते हैं इत्यादि कहा था उसमें श्रद्धा रहे सहित होना चाहिए श्रद्धा के अभाव हो तो नहीं होगा कहना है तस् असत्यम साधित असत्य हो जाएगा वो व्यक्ति यदि अश्रद्धा के द्वारा हो तो दत्त हो तप तप्त हो कृत हो जो कुछ भी हो उसको असत कहा जाता है किसी विद्वान के द्वारा यही है तो असत्य कैसे होता है मेरे शाप्ति प्राप्ति में नहीं, नहीं हो सके कर्म मैं कहा था मत प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यवाद ये वासी मंत्र में कहा था मेरे प्राप्ति के जो मार्ग हैं उसे बाह्य हो गया यह प्रतिबंधक हो जाता है मेरे प्राप्ति में इसलिए असत कहा जाता है ये कहा अहेक आमुष्मकम बा फलम अस्त्र द्वित्वेनापि कर्मणा संपत् से संपत् थे कुतो अस्य असत्व इतिहास आशंका है कि चाहे अहिक फल हो चाहे आमुखिक फल हो चाहे यहां फल लेना हो चाहे परलोक को फल लेना हो तो दोनों के दोनों फल अश्रद्धित नापि कर्मणा श्रद्धा रहित कर्म के द्वारा भी जिस कर्म में श्रद्धा नहीं किया इस कर्म के द्वारा भी संपत्ति से तो प्राप्त हो ही जाएगा श्रद्धा रहित होने पर भी कर्म का फल तो मिलेगा ही कुतो असत्व अश्य असत्व फिर इसके असत्व कैसे बोल दिया असत्य तो थे पार्थ कैसे कहा यह शंका है तो उत्तर देते न तत्त प्रत्यनो कहा था न तत्त प्रत्यनो फल के लिए भी परलोक फल के लिए भी नहीं होगा यहां के फल के लिए भी नहीं होगा ये कहा हुआ टीका तस्य उभय विधा फला फला हेतुत्व हेतु महा वो जो कर्म आदि है ना जो कुछ किया हुआ कर्म अश्रद्धापूर्वक होने पर फल के हेतु नहीं बनेंगे फल के कारण नहीं होंगे कर्म आदि साधन नहीं होंगे तस्य कर्म कर्म आदि उभय विध फला हेतु दोनों प्रकार के फल यह लौकिक फल पारलौकिक फल दोनों फल के अहेतु होने पर हेतु ने अहेतु है मैं कारण होने पर हेतु में हेतु बताते हैं हेतु नहीं बनते इसलिए हेतु बताते हैं साधु भी कहा साधु भी निंदितत्वाद साधु पुरुष जो सज्जन पुरुष है ना उनके द्वारा निंदा की जाती है ऐसे कर्मों को अश्रद्धा प्रभु जो किया हो निंदा करते हैं इसे अच्छा काम नहीं किया है बोलते हैं लोग निंदनते ही साधु साधु लोग निंदा करते हैं शिष्ट पुरुषों की निंदा करते हैं अश्रद्धा युक्त किया हो दिखावा के लिए ऐसा किया हो तो निंदनते ही साधु श्रद्धा रे तुम कर्म श्रद्धा रे जो कर्म होगा वो तो हो दत्त हो तप्त हो कृतकर्म जो भी हो उसके निंदा करते हैं साधु लोग साधु माने सज्जन पुरुष साधनोति पर कार्य साधु दूसरे के काम सिद्ध करने वाले को साधु कहते हैं ऐसा होता है निंदंती ही साधव श्रद्धा रहे तुम कर्मा श्रद्धा रहित कर्म की साधु लोग निंदा करते हैं अतो न ये तद उभयम उभय फल औपयुगम इत्यादि इसलिए ये श्रद्धा रहित जो कर्म होगा दोनों के दोनों ये कर्म उभय फल के उपयोगी नहीं है उभय फल लौकिक फल पारलौकिक फल दोनों के उपयोगी नहीं है कर्म श्रद्धा रहित कर्म जो भी करते हैं है ये कहा तद अनेन शास्त्र अनभिज्ञान जो शास्त्र को नहीं जानते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ये शास्त्र विद्युत सृज्य यजनते श्रद्धान्वता ये है ना श्लोक तेसाम दृष्टातु का कृष्णा बहुत दृष्टम अभी इस इस अध्याय के पूरे से बताते हैं तद अनेर अध्याय इस अध्याय के द्वारा या सप्तश अध्याय के द्वारा शास्त्र अनुविज्ञान अभी जो शास्त्र को नहीं जानते शास्त्र पढ़ने का मौका नहीं मिला जिनको शास्त्र नहीं जानते समझदारी समझदारी नहीं है श्रद्धा बदाम जो श्रद्धालु है तेसाम निष्ठा तो का कृष्ण निष्ठा मैंने श्रद्धा क्या है श्रद्धा ये पूछा था श्रद्धा बदाम श्रद्धा या सात्विकत्वादि त्रैवित भाजाम श्रद्धा से लेकर के जो पूर्व जन्म के संस्कार से उसमें श्रद्धा रखते हुए सात्विक राजस तामस तीन प्रकार के श्रद्धा वाले जो लोग कहा था तो राजस तामसाम आहारात इत्यादि है ना तीन प्रकार के आहार तीन प्रकार के यज्ञ तीन प्रकार के तप तीन प्रकार के दान आदि की चर्चा हुई है यहां तो राजस तामस आदि आहार आदि को त्यागना चाहिए राजस यज्ञ तामस यज्ञ राजस आहार तामस आहार राजस्तप तामस्तप राजसदान तामसदान को त्याग करके केवल सात्विक में आश्रित होकर काम करता हूं ये कहना है राजस तामस तामस आहार आदि त्याग ना जो राजस तामस आहार आहार आदि से क्या लेना यज्ञ नाम तप सात्विक आहार आदि या सात्विक आहार सात्विक यज्ञ सात्विक तप सात्विक दान इनके सेवन के द्वारा सत्विक शरणानाम जो सतगुण में आश्रित हुए जो लोग हैं सत्व मात्र एक है सरल दीर्घा रजोगुण तमगुण में आश्रित नहीं होते जो लोग सत्व सरल आना सत्व मात्र एकमात्र सत्व जिनका आश्रय है उसी में आश्रित है जो लोग प्राप्तम भी यज्ञ आदि वैगुण्यम उस स्थिति में सत्वगुण में आश्रित होकर के कर रहे श्रद्धा युक्त होकर कर राजस्थान उसको त्याग कर बैठे हैं उस स्थिति में स्वभाववश कुछ प्राप्त हो गया यज्ञ आदि में वैगुण्य प्राप्त हो गया स्वभाववश कुछ हो गया स्थिति में ब्रह्मणाम निर्देश है ब्रह्म का जो तीन नाम कहा ओम तत्सत नाम के कथन के द्वारा निर्देश माने कथन निर्देशते अनेना ब्रह्म यदि निर्देश जिसके द्वारा ब्रह्म का कथन होता है किन नाम किन से होता है ओम तत्सत के द्वारा कथन होता है माने ब्रह्म का वाचक शब्द है शब्द ये ब्रह्म के वाचक है कुछ कोई भी वाचक हो उसका वाच्य होता अर्थ होता है जैसे घाटा बोलेंगे तो एक मिट्टी का पात्र उसका वाच्य बनता है मनुष्य कहेंगे तो शब्द बोला मकार अकार नकार उकार सकार यकार अकार मिला के मनुष्य शब्द उच्चारण होगा उसके बा, वो वाचक है और वाच्य होता है ये जो दो हाथ दो पैर वाला पिंड इसको मनुष्य शब्द का अर्थ माना जाता है ये मनुष्य नहीं है मनुष्य एक शब्द है इसका अर्थ माना जाता है विषय है ठीक इस प्रकार ये तीन शब्द प्रमुख के वाचक है ओह तत्सत एक ब्रह्मणाम निर्विषेण परिहरदाम जो परिहार सत्व एक मात्र श्रवण है श्रद्धायुक्त होकर के सतुगुण सतुगुणी आहार ले रहे हैं सतुगुणी यज्ञ कर रहे हैं सतुगुणी तप कर रहे हैं सतुगुण वाला जो दान दे रहे हैं इत्यादि जो करते हों तो ब्रह्मणाम निर्देशन परिहरदाम यज्ञ आदि में किसी प्रकार से वैगुण्य आ गया उनके कर्म में तो ब्रह्मणाम निर्देश हो तत्सत इस कथन के द्वारा परिहरदाम उसका खंडन करने वाले वैगुण्य का परिहार करने वालों का परिशुद्ध बुद्धि नाम उनके शुद्ध बुद्धि वाले होते हैं वो श्रवणादि सामग्री संजातत्व संजातत्व साक्षात्कार बताम श्रवणादि सामग्री मैंने उपनिषद आदि का श्रवण किया हुआ है मनन किया हुआ है उसके द्वारा आत्म साक्षात्कार किया हुआ है जिन्होंने श्रवणादि सामग्री संजात तत्व साक्षात्कार बताम श्रवणादि जो सामग्री है श्रवण मनन निध्यासन सामग्री होते हैं इसके द्वारा उत्पन्न हो गया तत्व साक्षात्कार जिनका तत्व साक्षात्कार जिनको हो चुका है आत्म साक्षात्कार उनका मोक्षोपत्ति इति स्थितम मोक्ष की प्राप्ति स्थित हो जाती है हम्म। यदि यहां से शुरू करके चलते हैं हम सात्विक आहार सात्विक यज्ञ सात्विक तप सात्विक दान आदि के माध्यम से आप चलते हैं यथाशक्ति दान यथाशक्ति तप जैसे अपनी शक्ति को अतिक्रमण न करते हुए तो ये सब करते हुए क्या स्थिति आती है अंधकर्म की शुद्धि होती है इनसे अंधकर्म शुद्ध होने पर वेदांत उपनिषद आदि श्रवण की इच्छा होगी मैं कौन हूं क्या हूं ये जिज्ञासा होगी उस स्थिति में जिज्ञासा होने पर संसार से वैराग्य आ जाएगा अंधकरण की शुद्धि होने से विषयों से वैराग्य होगा विषयों से वैराग्य होने पर अंतर्मुखी वृत्ति में व्यक्ति जाता है मैं कौन हूं क्या हूं अपने बारे में अन्वेषण करने लगता है जब अन्वेषण करेगा तो महापुरुष के पास पहुंचेगा जो उसके बारे में बताएंगे तो अमुख है कहने वाले होंगे तो एक उपदेश देंगे उस उपदेश के माध्यम से वो मोक्ष की प्राप्ति कर जाता है शुरुआती साधन यही है यहीं से शुरू करना है सात्विक आहार आदि का सेवन के माध्यम से चलना है और श्रद्धा युक्त तो होकर के जो कुछ कहा उसको करना है शास्त्र में जो कहा हाँ, तमेतम ब्राह्मण दुखित दान तपसा नाश देना सूरज बहिरंग साधन यही होता है ऐसे शुरू करना होता है यज्ञ दान तप वृद्धागम कहा है उसको जानने की इच्छा करते हैं तो इच्छा करते हुए साधन अपनाते हैं निष्काम को अनाश के न कहा नाश वाले नहीं यज्ञदान तप कर्म अनाश के न कहा है जो नाशवान नहीं है अनंत फल देने वाले हैं मैंने निष्काम कर्म निष्काम आदि सेवा माध्यम से चलते हैं शुरू में ये तो बहिरंग साधन है अंतरंग साधन होगा शांतो तो प्रदत्त तिक्षु समाहितो भूतवा आत्मनिर्भर आत्मान पश्चित अंतरंग साधन होगा भीतर के साधन यज्ञ तो बाहर के साधन है तो भीतर के साधन शांत होना चाहिए मन को शांत रखना चाहिए साधक को दांत वन यदि अपने नियंत्रण अपने नियंत्रण नियंत्रण में रखना चाहिए यही है पुरुषार्थ यहां शांतो दांत उपरति विषम से वैराग्य होना चाहिए जब तक विषयों में वैराग्य नहीं है अंतर्मुखी वृत्ति में जाना संभव नहीं है बहिर्मुखी वृत्ति में जाएगा और माने कोई अंत नहीं है विषयों का अंत नहीं है जितना मिलेगा वहां शांति नहीं है और का कोई ठौर नहीं ऐसा बोलते हैं और और और जैसे अग्नि को बुझाने के लिए ईंधन देते रहेंगे तो अग्नि बुझने वाली नहीं है अग्नि को बुझाना है पेट्रोल आदि डालते रहेंगे और धतक धतकती रहेगी वो तो इसी प्रकार इसको विषय दे दे करके शांत करना संभव नहीं है शांत करना है तो विषयों से निवृत्त करने का साधन करें यदि अग्नि को शांत करना हो तो ईंधन देना बंद करना पड़ेगा और ईंधन देते रहेंगे तो कहां शांत होगी ईंधन देना बंद कर यहां भी विषय रूपी जो ईंधन है इसको देना बंद करते चलना पड़ेगा विवेक के द्वारा तभी यह शांत होगा शांत मन शांत होगा दांत इंद्रिय दमनित तो भी होंगे अपने नियंत्रण में आएंगे शांत हो शांतो हो प्रति विषयों से के तभी होगा जब अंतर्मुखी वृत्ति में जाएगा व्यक्ति शांत शांतो हो प्रति तितिक्षु शांत दुख सुख आदि शांत करने की शक्ति वाला बनेगा ये सब आगमा पाई है मेरे धर्म नहीं है शरीर का धर्म है इत्यादि मान प्रकृति का धर्म है ऐसा मानता है उस काल में वो विवेकी अविवेकी मेरा धर्म मानता है वो प्यास आदि इत्यादि को उपस्थित समाहित तो होता है एकाग्र होकर के आत्मा एवं आत्मान से अपने में ही अपने को देखे बुद्धि में अपने को देखे कहना होता है यंत्र का साधन है तो यही है तो ऐसे दोनों प्रकार के साधन अपनाएगा सूर्य का साधन यही है यज्ञ आदि है किंतु श्रद्धा युक्त होकर के करना चाहिए यज्ञ माने कई प्रकार के क्या चतुर्थ अध्याय में प्रणन करके आए एक ही प्रकार के अग्नि में आहुति डालना यज्ञ नहीं ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावीर से लेकर कई तरह के यज्ञ बताया है वहां एवं बहुबुदा यज्ञ तो ब्रह्मोद कर्मजान विद्वान सर्वान एवं व्याप्ता विमुक्ष आदि चतुर्थ अध्याय सारे यज्ञों की चर्चा की है सबसे बड़ा एक है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म रूप में देखना जो कुछ भी हम करते हैं ब्रह्मा जो करने वाला भी ब्रह्मा जिन साधन से किया जाता है भी ब्रह्मा जो अधिकार भी ब्रह्मा उसमें सारी दृष्टि एक होनी चाहिए हम भोजन के समय बोलते तो जब दृष्टि होती है वो नहीं होती दृष्टि करनी चाहिए ब्रह्मार्पण जो जो अर्पण किया जाता है जिसके द्वारा अर्पण हो रहा जैसे शुरुआती से अर्पण किया जाता है भोजन किसे अर्पण किया हाथ से किया जाता है इसमें ब्रह्म दृष्टि होनी चाहिए अर्पते मैंने अर्पण यह अर्पण करने का साधन हो गया भोजन के समय में और हवन के समय में शुरुआती होंगे वहां ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी माने हवनीय पदार्थ भी ब्रह्म है जो ग्रास होगा यहां डालेगा हवन जीव वो भी ब्रह्म देखना चाहिए अन्न दृष्टि में नहीं जाना ब्रह्म दृष्टि में जाना चाहिए ब्रह्मार्थ ब्रह्म ब्रह्माभिनव जो आहुति डाला मुख में डाला जा रहा है उसको भी ब्रह्म समझना चाहिए आहुति का अधिकरण बाहर में आहुति डालेंगे तो हवन कुंड होगा यहां तो हवन कुंड यही है इत्यादि माने प्रत्येक कर्म करते समय कर्ता करण अधिष्ठान आदि देखना चाहिए सारे ब्रह्म दृष्टि इसमें होती है तो ये करना चाहिए ये कहा हुआ है आगे <clears throat> नानु से संज्ञा है अच्छा नहीं अगला चारों अध्याय हम्म। पूर्व अध्याय देखो जो प्रथम अध्याय है वो तो केवल भूमिका के रूप में है गीता के उद्बोधन के लिए है वहां गीता के उपदेश नहीं है अर्जुन का प्रश्न भी दे भगवान का उत्तर भी नहीं वहां मतलब युद्ध के बारे में चर्चा है दोनों युद्धों की छानबीन में भूमिका करना उपदघात जिसको बोलते हैं वो तो उस द्वितीय अध्याय के दसम श्लोक तक कोई उपदेश नहीं है एकादश श्लोक से उपदेश आरंभ अशोच्यान शोचस्तुम प्रज्ञावादात्मभूषण भाषा से इत्यादि एकादश श्लोक से आरंभ होता उपदेश वहां से प्रश्नोत्तर चलता रहेगा पूर्व अध्याय द्वितीय अध्याय से सप्तदश अध्याय तक सारे अध्यायों के द्वारा विस्तरेण विस्तार से कहा हुआ यही बात है क्या कहा ज्ञान कर्म उपासना यही कहा हुआ है कहीं ज्ञान के विषय में कहा कहीं कर्म के विषय में कहा उपासना के विषय में तीन ही बातों की चर्चा है और कुछ नहीं है पूर्व जो कहा गया पूर्वेर अध्याय विस्तरेण यतस्तो यहां वहां करके एक ही जगह में नहीं बताया किसी अध्याय में ज्ञान को कहा किसी में कर्म द्वितीय अध्याय में ज्ञान की चर्चा हुई है तृतीय अध्याय में कर्म की चर्चा है इत्यादि इत्यादि पूर्वेर अध्याय विस्तरेण पूर्व अध्याय के द्वारा विस्तरेण यतस्तो विक्षिप्तया उत्तम अर्थम विस्तार के द्वारा यहां वहां कहा वो एक ही जगह में नहीं कहा सम्मिलित करके नहीं कहा भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न विषय को कहा है कहीं ज्ञान को कहा कहीं कर्म को कहीं उपासना इत्यादि को विक्षिप्तया उत्तम अर्थम मैंने विक्षिप्त विकीर्ण रूप से फैले हुए रूप से जो विषय जितने भी थे सुख प्रतिपत्त है एक ही अध्याय में सारे का ज्ञान हो जाए पूर्व अध्याय में जितने जो चुक रहा था एक ही अध्याय में सारांश ज्ञान हो जाए क्योंकि संक्षेप विस्ताराभ्याम माने अर्थ सिद्धि ऐसे बोलते हैं दो प्रकार से करने से पूर्ण ज्ञान जानकारी हो जाती है पहले विस्तार से कहा हुआ और संक्षिप्त करके बोले हमारे दो प्रकार की कथा की शैली होती है व्यास शैली एक समाज शैली संक्षेप से कहना बहुत सारे विषयों को संक्षेप में बोल देना यह समाज शैली और थोड़े से वस्तु को विस्तार कर देना यह व्यास शैली व्यास शैली से तो हो गया विस्तार से तो कहा अब संक्षेप में कहा गया एक ही अध्याय में बताते हैं पूर्व में जितने कहा गया था द्वितीय अध्याय से लेकर सप्तश अध्याय तक उसको एक ही अध्याय में बताना चाहते हैं कहना चाहते हैं संक्षेप और उपसमृत्य संक्षेप में उसको उपसंगार करके अभिधाव तुम कथन के लिए हाँ, एक ही अध्याय में संक्षेप कथन करना है सारे विषयों का पूर्वोक्त विषय जितने भी थे अध्यायांतरम अवतार है जैसे अन्य अध्याय सप्तदश अध्याय के बाद में अष्टादश अध्याय के आरंभ करते हैं इसके लिए है पूर्व उत्तर भिन्न भिन्न स्थानों में कहा था या एक ही स्थान में कहेंगे और वहां विस्तार से कहा था यहाँ संक्षेप बताएं वही विषय वही होगा पूर्वोक्त तो विषय होंगे यहाँ विज्ञान की चर्चा होगी कर्म की चर्चा होगी उपासना की भी चर्चा होगी एक ही अध्याय में ये कहा एक भाष्य में कहते हैं सर्वस्व पूरे गीता शास्त्र जितने कहा था पूर्व में द्वितीय अध्याय से सप्तः अध्याय सोलह अध्याय जो कुछ भी कहा है सर्वस्व गीता शास्त्र से संपूर्ण जो गीता शास्त्र पूर्व पर कहे गए गीता शास्त्र है उनका अर्थ मान विषय उसका जो विषय है गीता का जो विषय होगा अश्विन अध्याय उपसमृत इस अध्याय में उपसंहार करके इस अध्याय में अष्टादश अध्याय आने वाला जो अध्याय है उपसंवृत केवल गीता के अर्थ का उपसंहार नहीं करना यहां सर्वस्व वेदार्थो वक्तव्य संपूर्ण वेद का भी अर्थ बताना चाहिए यहां चारों वेदों का जो अर्थ होगा संक्षेप में यहां वो भी बताना चाहिए केवल गीता मात्र के विषय नहीं बताना है जो कुछ कहा था उसके संक्षेप में कहना नहीं सारे वेदों का भी अर्थ बताना है संक्षेप में बोलना है जो शॉर्टकट बोलते हैं ना कोड भाषा संक्षेप में बोलना सर्वस्व वेदार्थों वक्त सारे वेदों का विषय भी यहां कहना चाहिए संक्षेप के द्वारा ये तेवम अर्थ यही प्रयोजन को लेकर के यही प्रयोजन है दो प्रयोजन है पूर्व में जितने गीता में कहा गया भिन्न भिन्न स्थानों में जो विस्तार से कहा हुआ जो विषय था उसको एक ही जगह में उपसंहार करना एक ही अध्याय में बताना चाहिए संक्षेप के द्वारा बताना चाहिए करके और दूसरी बात वेदों का अर्थ जो चारों वेदों का जो मुख्य निचोड़ सारांश होता है वो भी बताना है सारे वेदों का अंश अंतिम में बताएंगे सार सर्वधर्मान परित्यज्य मामे को शरण यही होगा तुमने जितने भी धर्म का आरोप किया है अपने में मैं मनुष्य हूं स्त्री हूं पुरुष हूं अरे बाबा तुम न मनुष्य हो न स्त्री हो न पुरुष हो ये सब शरीर के धर्म है मनुष्य आदि शरीर है शरीर को मनुष्य स्त्री पुरुष बाल वृद्ध बोला जाता है आत्मा को नहीं बोला जाता सारे धर्म जो तुमने आरोप किया इसको निकाल कर परित्यज फेंको फेंक कर फेंक करके माम एकम शरणम ब्रजा माम एकम निर्विशेषम आत्मान शरणम ब्रजा मैं जो निर्विशेष आत्मा हूं उसके शरण में हो जाऊ ऐसा करोगे तो क्या होगा अहम तो आज सर्व पाप ये से मोक्ष श्यामा मैं तुम्हारा जितने भी पाप था ये मैं मनुष्य हूं कहना महापाप है मैं स्त्री हूं पुरुष हूं ये सारे महापाप ये सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा बस हाँ मेरे को सड़ूंगा हम तो आज सर्वपाप मोक्ष श्याम मुक्त करूंगा तुमको इन पापों से हाँ शोक मत करना ऐसा कहेंगे अंत में वेद का अर्थ बताएंगे संपूर्ण वेदों का यह अर्थ होता है मसी ये तो बोले तुम तो वही हो ये नहीं हो जिसमें अभी आत्मबुद्धि करो ये नहीं हो तो यही तो बोलना है वेद ने हम ब्रह्माष्टमी ऐसा वेद का कहना होगा तो सर्वस्व वेदार्थ वक्तव्य केवल गीता के अर्थ मात्र यहां कथन नहीं करना इस अध्याय में किंतु संपूर्ण वेद का अर्थ भी कथन करना है वक्तव्य एवं अर्थ यही प्रयोजन को लेकर अयम अध्याय आरंभ है ये अध्याय में अभी अभी जो आरंभ होने वाला अध्याय है अष्टादश आरंभ किया जाता है कहा सर्वेशु सर्वेशु ही अतीतेशु अध्यायु पूर्व पूर्वोक्त जितने भी अध्याय थे द्वितीय अध्याय से लेकर के सप्तदश अध्याय तक उन अध्याय में उक्तो अर्थ जो कहा गया विषय है अश्विन अध्याय अवगमित इसी अध्याय में अष्टादश अध्याय में सब जाना जाता है विचार से देखने पर ज्ञान का प्रकरण भी है कर्म का प्रकरण भी है और उपासना भी है यही तो कहा था पूर्व में ज्ञान कर्म उपासना थान थान पर यही बोलते रहे यही है अर्जुनस्तु और अर्जुन जो है संन्यास त्याग शब्दार्थ एवं विशेषम बहुत स्वरूपार्थ संन्यास अर्जुन माने संपूर्ण गीता का अर्थ भी बताना यहां और वेद का अर्थ भी बताना किंतु तो अर्जुन के मन में तो दो वेदों का मंत्र के याद आया संन्यास योगा यथय शुद्ध सत्व वेदांत विज्ञान शुद्ध सिद्धार्थ संन्यास योगा यथय शुद्ध सत्व ते ब्रह्म लोके ही परांत काले परावृता परिमुचंत सर्वे मुंडक मुंडक उपनिषद वहां पर संन्यास शब्द आया हुआ है और न प्रजया कर, न कर्मणा प्रजया धने न त्यागे नहीं गया अमृत मानसो कैबल्य उपनिषद में आया हुआ है संतान से भी मोक्ष नहीं मिलेगा कैबल्य नहीं हो पाएगा संतान प्राप्ति करने मात्र से यदि संसार संतान के द्वारा कैबल्य प्राप्त होना तो मनुष्यों की अपेक्षा शुअर आदि का पहले होना चाहिए उनके संतान ज्यादा होते हैं न कर्मणा न प्रजा कर्म से नहीं होना प्रजा से भी संतान से भी नहीं होना न धने ना धन से भी मोक्ष नहीं होना कई बल्य नहीं मिलेगा कई बल्य केवल स्वभाव बल्य वो नहीं होगा त्यागे ने एक अमृतत्व आंसो त्याग से ही मिला है कुछ लोगों ने प्राप्त किया है त्याग के द्वारा ये कहा वहां त्याग शब्द आया है तो अर्जुन इसलिए संन्यास और त्याग के बारे में पूछता पहले वो वेद में आया हुआ दोस्त एक देश को लेकर के एक में संन्यास शब्द आया है मुंडक में और एक कैबल में त्याग शब्द आ गया उसको लेकर के आप अर्जुन प्रश्न करना चाहता है संन्यास और त्याग के बारे में पहले प्रश्न करेगा बाद में आगे कारोबारी की चर्चा भी होगी ये कहना है सु अर्जुन यहां जो है किंतु संन्यास त्याग शब्दार्थ संन्यास शब्द है त्याग शब्द मैंने अर्जुन के मन में ये मन स्फूरित हो गया अंतर्गत में स्फूरित हो गया त्याग शब्द और संन्यास शब्द मुंडक में सुना पड़ा था संन्यास और कैवल्य परिषद में सुनाई पड़ा था त्याग संन्यास त्याग शब्दार्थ एवरेव विशेषम बुभुत्सु ये दोनों के अर्थ विशेष रूप से जानने की इच्छुक है आप बद्धुम इच्छु बुभुत्सु जानने की इच्छुक है ये दो के अर्थ विशेष रूप से जानना चाहता है किसको संन्यास कहते हैं किसको त्याग कहते हैं यह अर्जुन का प्रश्न होगा शुरू के श्लोक में कहना उवाच अर्जुन ने प्रश्न किया ये कहना है विशेष रूप से जानना चाह रहा है संन्यास शब्द का अर्थ और त्याग शब्द का अर्थ ये कहना है ठीक है उपसमृत्य वक्तव्य है ना हाँ, उपसंहार करके कहना चाहिए यहां पर अश्विन अध्याय उपसमृत्य उसके आगे वक्तव्य यह लगाना चाहिए एक आगे उपसमृत्य तो भाष्य में है वक्तव्य लगाना चाहिए ऐसा कहा किंच उपनिषदों में त्याग और संन्यास के बारे में चर्चा है उपनिषद यतस्तो विस्तृत से अर्थ से वहां भी इधर उधर के यहां वहां करके अर्थ विस्तार से कहा कहीं ज्ञान का है प्रसंग है कहीं कर्म का कहीं है इसका उपासना का वहां भी उपनिषदों में भी तो किंच उपनिषद से उपनिषदों में यतस्तो विस्तृत से यहां वहां जो विस्तार हुआ है जिन जिन का विस्तार हुआ है ज्ञान का कर्म का उपासना आदि का अर्थ से विषयों का बुद्धि सौकर्यार्थ बुद्धि की सुकर्ता के लिए यहां एक ही अध्याय में हम समझ रहे हैं उसको बात इसी अध्याय में यहां कहने से सरल हो जाएगा एक जगह बताना वहां ढूंढना मुश्किल पड़ेगा बुद्धि सब सबकर्याथम अस्मिन अध्याय संक्षिप्त अभिधानम इस अध्याय में संक्षिप्त रूप से कथन होना है यहां वेद में कहा हुआ जो विस्तार से यहां वहां कहा हुआ जो विषय थे वो का भी यहां संक्षेप में कथन होना है बुद्धि के सुकरता के लिए अनायास हो जाए जैसे दूध में मक्खन ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा मथने पर आराम से मक्खन मिल जाता है कोई मथ के रख दिया इस प्रकार सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदना है तो संपूर्ण उपनिषद गाय के स्थान में रखा हुआ है महात्मा में आया था सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल पार्सो वत्स अर्जुन को बछड़े के स्थान बछड़ा जितना मारता है ना वहां उतना दूध निकलता है इस प्रकार यहाँ प्रश्न करता रहता है तो भगवान उत्तर देते रहते हैं अमृत रूपी दूध दे रहे हैं बाकी अमृत दुग्धम गीता प्रथम हत दूध क्या है तो कहा गीता रूपी महान अमृत है दूध यहाँ अर्जुन बछड़े के सामने है और दोहने वाले वाले कृष्ण है गोपाल नंदन है उपनिषद को दोहन करके सारांश निकाल करके अर्जुन को मैंने गीता रूपी अमृत दे रहे हैं इसी प्रकार है हाँ, संक्षिप्त अविधान का दुम उपनिषदाम गीता नाम तो अर्थ होता है उपनिषदों में जो कहा गीता में वही कहना एक ही विषय भिन्न विषय नहीं है उपनिषद में जो कहा हुआ है एक ही अर्थ एक ही विषय है गीता और उपनिषद का उपनिषद में जो कहा उसी को गीता में अनुवाद किया हुआ है इसलिए वहां जो कहा हुआ था ज्ञान कर्म उपासना आदि कहा यहां भी तीनों कहना है इसी अध्याय में संक्षेप से कहना है यही है सर्वस्व इत्यादि कहा था सर्वस्व वेदार्थ वक्तव्य केवल पूर्वोक्त गीता के जो जो कहा था गीता में उतने मात्र यहां कहना नहीं इस अध्याय में सारे वेद का अर्थ बताना है बम तो अयम अध्याय आरभ कहा था ठीक है मैं होगा कथम सर्वोपि शास्त्र तो असमध्याय संशोधन कैसे किस प्रकार संपूर्ण शास्त्र का विषय होगा बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र है विषय अनेक होंगे तो संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ असमित इस अध्याय में गीता शास्त्र जितने पूर्व में कहा सबका अर्थ कैसे संक्षेप कहा जाएगा उपसंहार कैसे हो पाएगा शंका आ गई तो उत्तर देता आह सर्वेशु इत्यादि कहा सर्वेशु अतिथेशु अध्याय तो अर्थ पूर्व अध्याय में जितने भी कहा हुआ विषय है तीन विषय होता है ज्ञान कर्म और उपासना अश्विन अध्याय अवगम्य थे इस अध्याय में जाना जाता है विचार से देखेंगे तीनों यहां हैं ठीक है मैं कहना होगा नानो वेदार्थ चेत अशेष तो अत्र उपसंग शीर्षिता यदि वेद का विषय यहां उपसंगार करना इष्टा इस अध्याय में वेद का विषय यहां उपसंगार करना इष्ट जीर्षिता इष्ट उपसंगा उपसंहारितुम इष्ट उपसंहार करने के लिए इष्ट हो यदि तरी तब तो किमिति त्यागे न के संन्यास हो जाती जब वेदार्थ देश विषय प्रश्न प्रतिवचन तत् फिर वेद के संपूर्ण वेद का अर्थ है बतलाना इष्ट हो फिर दो ही प्रश्न है एक देश को लेकर के वेद में कहा हुआ है त्याग शब्द आया त्यागे न के अमृत मानस और विद्या संन्यास होगा यथया शुद्ध सत्व ये दो ही यहां क्यों रखा संपूर्ण वेद का विषय क्यों नहीं रखा या तो दो एक देश लिया एक कोना एक अंश लेके क्यों चले अर्जुन और भगवान इसे उत्तर क्यों देते हैं प्रश्न है हमने वेदार्थ चेत तो अशेष तो अत्र उपसमजिहिर्षित यदि वेद का विषय जितने हैं वेद में जितना कहा चारों वेद में उसके सारे के सारे विषय यहां उपसंहार करना यदि इष्ट हो तरी तब तो क्यों फिर इतना ही क्यों कहा वेद में इतना ही थोड़ी है त्यागे नहीं के एक शब्द दूसरा सन्यासी होगा ये दो ही इतना एक देश वेद का ये कौन है इतना वेदार्थ एक देश वेद का अर्थ तो है एक देश को विषय कर रहा है वेद का तो यहां भी यही कहना है संन्यास से महाभाव होते तत्व में त्याग से श्री दो दो ही प्रश्न अर्जुन का तो कैबल्य परिषद के आधार पर ये मनमुंडक के आधार पर यहां प्रश्न है अर्जुन का तो संपूर्ण वेद का विषय यहां उपसकार करना हो तो सब कहना चाहिए ना तो उसका एक कोना एक देश लेकर के क्यों कहा यह प्रश्न है प्रश्न प्रतिभा अर्जुन का प्रश्न भी एक देश को लेकर के यहां भी वैसे ही है संन्यास से महाभाव तत्व में इच्छा तो तुम संन्यास वो जो कैबल्य परिषद में इसमें मुंडक में आया होता संन्यास होता वही उसी के बारे में संपूर्ण वेद का अर्थ कहाँ आया हुआ और त्याग ही नहीं कि मान से त्याग शब्द है तो संपूर्ण वेद का अर्थ कहाँ है दोनों में नहीं है यहां भी वैसे अर्जुन के प्रश्न में दो ही शब्द है यहाँ संन्यास अस्तु महाभाव दुख माप तब तुम इच्छा वेद तुम त्याग से जैसा पृथक कैसे नहीं दो ही शब्द है आपको वही वेद का अनुकरण करके बोला संपूर्ण वेद का विषय तो नहीं हुआ ना ये प्रश्न है तथा हाँ। भगवान ने भी यही दो को लेकर प्रश्न किया त्याग किसको कहते हैं और संन्यास किसको कहते हैं यही प्रश्नोत्तर है दिखता है यहां संपूर्ण वेद का अर्थ लेना तो पूरे वेद का अर्थ बताना चाहिए एक देश को लेकर क्यों कहा यह प्रश्न था कहते अर्जुन अस्तु इत्यादि शब्द कहा था और वस्तु संन्यास त्याग शब्दार्थ विशेष भूत यद्यपि वेद का अर्थ संपूर्ण बताएंगे किंतु अर्जुन अपने बुद्धि के आधार पर विशेष रूप से जानना इनको इष्ट समझता है किसको संन्यास त्याग को पृथक अनयोज तत्व ये दोनों को भिन्न भिन्न स्वरूप बताओ त्याग का स्वरूप और इसका संन्यास का स्वरूप अर्जुन को प्रश्न यही होता है है श्लोक के बाद के बाद है पहले श्लोक है संन्यास से महाबाहो तत्व इच्छा वेदु त्याग से चीकेश पृथक केशे नूदन संन्यास से महाबाहो तत्व इच्छा वेदु त्याग से चीकेश पृथक केशे नूदन संन्यास से महावे हे महाबाहो हे लंबे हाथ वाले परमात्मा भगवान के लंबे हाथ हैं कितने भी दूर भक्त हो वहां पहुंच सकते हैं अनुग्रह करने के लिए कितने भी दूर में दुष्ट हो उसको निग्रह करने को उनका हाथ पहुंच जाता है ये महाबाहु है भगवान हे महाबाहो महान महान महानतो बाहु यश्य लंबे हाथ है जिसके उसको कहा जाए महाबाहु हे महाबाहो संबोधन है और हे केसी निशूदना दूसरा विशेषण है ये केसी केसी दानव को मारने वाले केसी दानव को मारने वाले ये भी संबोधन है हे महाबाहो हे केसी निशूदना संन्यास तत्व वेद तत्व वेदुम इच्छा मैं संन्यास के स्वरूप को जानना चाहता हूं संन्यास क्या है किसको संन्यास कहते हैं स्वरूप जानना चाहता हूं और त्याग से तत्व वेद इच्छा त्याग के भी स्वरूप को जानना चाहता हूं किंतु पृथक अलग अलग करके जानना चाहता हूं एक विलाग सम्मिलित करके नहीं संन्यास क्या है और त्याग क्या है ये दोनों को भिन्न भिन्न रूप से मैं जानना चाहता हूं अलग अलग स्वरूप को जानना चाहता हूं अर्जुन ने एक प्रश्न किया है माने मुंडक परिषद को लेकर के और परिषद को लेकर के एक देश को लेकर के प्रश्न है यहीं से आरंभ होने जा रहा है ठीक है संन्यास का संन्यास शब्द संन्यास अर्थ है संन्यास शब्द का जो अर्थ होता है संन्यास शब्द का अर्थ संपूर्वक जो न्यास शब्द त्याग त्याग में होता है अर्थ तो वही आएगा तो संन्यास शब्दार्थ से संन्यास से कर संन्यास जो शब्द है उसका अर्थ विषय उसको जानना चाहता हूं इतने तर यही होता है इसका अर्थ हे महाबाहो करके संबोधन कहा हे महाबाहो संन्यास शब्द का जो अर्थ होगा विषय होगा उसको मैं जानना चाहता हूं किसको संन्यास कहते हैं तत्व मानी जो स्वरूप है तस्य भाव तत्व जो संन्यास में आने वाला जो स्वरूप धर्म है संन्यासत्व पर जाएगा तत्व माने संन्यास संन्यासत्व तत्व यथार्थम उसका अर्थ यथार्थता संन्यास शब्द का जो विषय होता है यथार्थ रूप में मैं समझना चाहता हूं जानना चाहता हूं किसको संन्यास कहा जाता है इच्छा में वेद तुम इच्छा में है मान ज्ञातुम इच्छा में जानना चाहता हूं दूसरी बात त्याग से त्याग के भी जो विषय होगा उसको भी जानना चाहता हूं त्याग किसको कहते हैं त्याग से त्याग शब्दार्थ से त्याग माने त्याग शब्द को नहीं त्याग शब्द का जो विषय है उसको भी जानना चाहता हूं किसको त्याग कहते हैं एतत यही है हे ऋषिकेश ऋषि का मैंने होता है निद्रा निद्रा को विजय करने विजय किया इन्होंने कितने दिन तक न सोना तो नहीं सो सकते अपने हाथ में निद्रा जिसके हे ऋषिकेश निद्रा विजयी को ऋषिकेश कहा जाता है क्योंकि ऋषिकेश तो ऋषिकेश बोलते हैं पुराना नाम ऋषिकेश है उसका और निद्रा विजय पुरुष रहते थे महात्मा लोग रहते थे वहां उस समय की बात थी आज सारे बाजार बन गया अमुक बन गया ये हो कैसे हो गया ये जितने भी स्थान में महात्मा पहुंचे आगे भक्त आए जरूर आए भक्तों को प्यार देने लगे महात्मा आगे वो स्थान बिगड़ गया सच्चाई यही हुई है जहां जहां महात्मा साधन नहीं था साधना करते थे पहले अब भक्त आए साधन देने लग गए हमें हम बिगड़ गए साधना से वंचित हो गए ऐसी है तो काट्याभिष पदार्थ हे शिशि जैसा कहा पृथक इतर इतर विभाग था दोनों के विभाग को बताइए मिला करके नहीं बोलना संन्यास का विषय क्या है त्याग का विषय क्या है पृथक कहा पृथक मान भिन्न भिन्न करके बताइए ये कहा हुआ है केशी निषूदन ये भी संबोधन है केशी नामा हयत छदमा कश्चित असुर केशी नाम के घोड़े के रूप धारण करके आया हुआ कोई असुर था गोकुल में आया था भगवान को मारने के लिए केसी घाट अभी प्रसिद्ध है वहां वृंदावन में केसी नामा हयत छलमा मैं घोड़े के रूप में आया छल करके आए हुआ असुरदार वो तम निशूदित निशूदितवान उनको मार दिया भगवान ने उसको मारा किसको केसी को मारा जो घोड़े के रूप में आया था उपद्रव मचा रहा था गोकुल में ठीक है तम निषूतवान कहा उसको निषूदितवान भगवान ने मारा भगवान वासुदेव मारने वाले कौन भगवान वासुदेव कोई है तेरा तन नाम ना संबोधित इसलिए उसी नाम के द्वारा संबोधन किया जाता है हे केसी निशूदना का अर्जुन के द्वारा वही नाम पुकारा गया के, केसी निशूदना कहा हुआ है ठीक है पृथक अनयो तत्व वेदितुम तो इच्छा में भिन्न भिन्न रूप से दोनों का विषय जानना चाहता हूं संन्यास का विषय संन्यास शब्द का जो विषय अर्थ है अथवा त्याग शब्द का जो अर्थ है दोनों को पृथक अनवय तत्व अनवय दोनों का ये दोनों त्याग और संन्यास दो कहा हुआ है तो इच्छा में विशेषणाद ये विशेषण दिया है यहां तो पृथक तत्व कहा हुआ पृथक अर्थस्थ योग अस्थि बन अर्जुन ही मानता है कि गंभीर थे ये जाना जाता है भिन्न भिन्न अर्थ है इसका सामान्य तो त्याग बोलो संन्यास बोलो संपूर्ण न्यास शब्द भी त्याग अर्थ में होता है त्याग होता है संन्यास योगात में ही होगा तो माने क्या है यहां पर भिन्न पृथक कहा हुआ अर्जुन ने क्या कहा हुआ पृथक कहने से भिन्न है दोनों का अर्थ में कोई फर्क है एक ही अर्थ नहीं है ऐसा लगता है जाना जाता है इसलिए अर्जुन पूछ रहा है एक ही एक ही अर्थ होता पृथक शब्द नहीं लगाता अर्जुन पृथक लगा है पृथक माने भिन्न भिन्न भिन्न करके बताइए दोनों का अर्थ यथार्थ बताइए ये कहा भुभुत्सित से प्रष्टव्यत्वाद जो जानना इच्छा है वही प्रष्टव्य होता है क्या होता है जो जानने की इच्छा होती है उसी उसी विषय प्रश्न होता है भुभुत्सित बुद्धुम इष्ट से बुभुत्सित जो मान जानना इच्छा है बुधा होगा मानी धातु है ना उसे सन करके निष्ठा करके बुभुत्सित बनाया गया जो जानना इष्ट है प्रष्टव्य तो वही प्रष्टव्य वही था तो प्रश्न करने योग्य वही होता है जा, जानना इष्ट है उसे विषय में प्रश्न होता है एक देश है तद इसलिए एक देश में भी है जानना क्या है वेद का अर्थ जानना इष्ट है उनके उसका जो एक देश क्या है यहाँ त्यागे नहीं के अमृतपानसु अथवा संन्यास योगात वेद का एक देश है यहां एक देश में भी तो कोई इष्ट जो जानना इष्ट है वो पे वही है इष्ट अर्जुन वही शब्द के द्वारा प्रश्न कर रहा है जानना इष्टम है जानना इष्ट सारे वेद है उसका एक देश है जो दो शब्द बोला अर्जुन ने संन्यास और त्याग तो भूभुत्सित प्रष्टव्यत्व जो जानना इष्ट होता है उसी राशि में प्रश्न होता है तद एक देश है उसका एक देश है यहां संन्यास और त्याग शब्द दो है जानना इष्ट यही है सारा वेद में का एक देश बना हुआ है संपूर्ण वेद तो नहीं हुआ एक देश है तो सारा वेद जानना इष्ट होगा एक देश भी जानना इष्ट ही होगा तद भावात पर ये भी भूगत से तत्व तो भावात क्या है जानना इष्ट है यहां भी कहा त्याग और संन्यास में उक्त प्रश्न होती है इसलिए अर्जुन का जो प्रश्न है संन्यास से महाभाव तत्व मिशा वेदुम त्याग से कैसा पृथक अर्जुन का प्रश्न की संगति लग जाती है यद्यपि संपूर्ण वेद का अर्थ जानना है किंतु समुर वेद का अर्थ में यह भी आ जाता है एक देश में आता है सौ रुपया होगा तो एक रुपया भी होगा उसके पास उसके अंतर्गत है स्थिति ये कहना है टिप्पणियां है संन्यास त्याग शब्द जिज्ञास से है भूगत से जानना इष्ट संन्यास शब्द त्याग शब्द यही है उगते जिज्ञास एक देश है कहा प्रष्टव्य वही होता है जो जानना इष्ट होता है वही प्रष्टव्य होता है पूछने योग्य होता है उसके एक देश में प्रश्न है अर्जुन का यहां पूरे वेद में तो अर्थ हो नहीं पा रहा है त्याग और संन्यास करके एक देश में लिया है जिज्ञास जो कहा तब तस् अशेष वेदार्थ तद है ना संपूर्ण जो वेद का अर्थ है तब तो तद तस् अशेष वेदार्थ से संपूर्ण वेदार्थ से वक्तव्य से जो वक्तव्य संपूर्ण वेद का अर्थ है यहाँ गीता में इस अध्याय में एक देश विषय अर्जुन प्रश्न अर्जुन प्रश्न अंतर्भावात कहते हैं एक देश में प्रश्न यही है जो जानना ऐसा संपूर्ण वेद था उसके एक देश में प्रश्न किया ने वेद से बाहर नहीं है ठीक है जानना इष्ट के अंतर्भूत है कि अर्जुन के प्रश्न ठीक है ये कहना है समय हो गया है न्याय रखते हैं फिर करें ओम पूर्णमद पूर्ण पूर्णात पूर्ण पूर्ण पूर्णमादाय वशिष्य ओम